कुंडलनी शक्ति का सूचक सिंबल सांप को क्यों माना गया है कृपया उसके सभी कारणों का उल्लेख करें थियोसॉफी के इंग्लैम प्रतीक में एक वृत्ताकार सांप है जिसकी पूछ मुंह के अंदर है रामकृष्ण मिशन के प्रतीक में सांप के फन को स्पर्श करती हुई उसकी पूछ है कृपया इनका अर्थ भी स्पष्ट करें हम्म कुंडलनी के लिए सर्व का प्रतीक बड़ा मौजूद शायद उससे अच्छा कोई प्रतीक नहीं है इसलिए कुंडलनी में ही नहीं सर्प ने बहुत बहुत यात्राएं की हैं उसके प्रतीक ने और ऐसी दुनिया की कि किसी कोने में भी ऐसा नहीं है कि सर्प कभी ना कभी उस कोने के धर्म में प्रवेश न कर गया हो क्योंकि तो सर्प में कई खूबियां हैं जो कुंडलनी से तालमेल खाती पहली तो बात यह कि सर्प का ख्याल करते ही सरकने का ख्याल आता और कुंडलनी का पहला अनुभव किसी चीज के सरकने का अनुभव है कोई चीज जैसे सरक गई जैसे सर्प सरक गया सर्प का ख्याल करते ही एक दूसरी चीज ख्याल में आती है कि सर्प के कोई पैर नहीं लेकिन गति करता गति का कोई साधन नहीं है उसके पास कोई पैर नहीं है लेकिन गति करता कुंडलिनी के पास भी कोई पैर नहीं कोई साधन नहीं निपट ऊर्जा है फिर भी यात्रा करती तीसरी बात जो ख्याल में आती है कि सर्प जब बैठा हो विश्राम कर रहा हो तो कुंडल मार के बैठ जाता कुंडलनी बैठी हालत में होती है हमारे शरीर की ऊर्जा जब जगी नहीं है तो वो भी कुंडल मारे ही बैठी रहती है असल में एक ही जगह पर बहुत लंबी चीज को बैठना हो तो कुंडल मार के बैठ सकती है और तो कोई उपाय भी नहीं उसके बैठने का हो कुंडल लगा के बैठ जाए तो बहुत लंबी चीज भी बहुत छोटी जगह में बन जाए और बहुत बड़ी शक्ति बहुत छोटे से बिंदु पर बैठी है तो कुंडल मार के ही बैठ सकती फिर सर्व जब उठता है तो एक एक कुंडल टूटते हैं उसके जैसे जैसे वो उठता है उसके कुंडल टूटते हैं ऐसा ही एक एक कुंडल कुंडलनी का भी टूटता हुआ मालूम पड़ता है जब कुंडलनी का सर्प उठना शुरू होता सर्प कभी खिलवाड़ में अपनी पूंछ भी पकड़ लेता तो सर्व का पूछ पकड़ने का प्रतीक भी कीमती है और अनेक लोगों को वो ख्याल में आया कि वो पकड़ने का पूछ को पकड़ लेने का प्रतीक बड़ा कीमती है वो कीमती इसलिए है कि जब कुंडली पूरी जागेगी तो वो वर्तुलाकार हो जाएगी और भीतर उसका वर्तुल बनना शुरू हो जाए उसका फन अपनी ही पूछ पकड़ लेगा साथ एक वर्तुल बन जाता अब कोई प्रतीक ऐसा हो सकता है कि सांप के मुंह ने उसकी पूछ को पकड़ा अगर पुरुष साधना की दृष्टि से प्रतीक बनाया गया होगा तो मुंह पूछ को पकड़ेगा आक्रमक होगा और अगर स्त्री साधना के ध्यान से प्रतीक बनाया गया होगा तो पूछ मुंह को छूती हुई मालूम पड़ेगी समर्पित पूछ है वो मुंह ने पकड़ी नहीं है ये फर्क पड़ेगा प्रतीक में और कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है ये जो सर्व का जो फन है ये भी सार्थक मालूम पड़ा क्योंकि पूछ तो उसकी पतली होती है लेकिन उसका फन बड़ा होता है और जब कुंडलनी पूरी की पूरी जागती है तो सहजता में जाके फन की भांति फैल जाती उसमें बहुत फूल खिलते हैं वो बहुत विस्तार ले लेती पूछ तो उसकी बहुत छोटी रह जाती है सर्प जो कभी खड़ा होता है तो बड़ा आश्चर्यजनक वो तो पूछ के बल पूरा खड़ा हो जाता है वो भी एक मेरेकल एक चमत्कार है सर्प में हड्डी नहीं होती वो बिना हड्डी का जानवर है लेकिन वो पूछ के बल खड़ा हो सकता और जब बिना हड्डी के कोई जानवर कोई सरेंकता हुआ पशु सर्प जैसा बिना हड्डियों के पूछ के बल पूरा खड़ा हो जाता है तो वो निपट ऊर्जा के सहारे खड़ा है और कोई उपाय नहीं उसके पास और ठोस साधन नहीं है खड़े होने के सिर्फ शक्ति के बल सिर्फ संकल्प के बल खड़ा है खड़ा होने में कोई बहुत मटेरियल ताकत नहीं है उसके पास समझ रहे मेरा मतलब तो जब हमारी कुंडलनी पूरी जग के खड़ी होती है तो उसके पास कोई मेटीरियल सहारा नहीं होता एकदम इमेटेरियल फोर्स इसलिए सब प्रतीक की तरह लगा और भी कई कारण थे जो सर्प में लगे सार्थक जैसे एक अर्थ में सर्प बहुत इनोसेंट है बड़ा भोला है इसलिए भोले शंकर उसको सिर पर रखे हुए हैं तो बहुत भोला है एकदम भोला है ऐसे अपनी तरफ से किसी को सताने नहीं जाता लेकिन अगर कोई छेड़ दे तो खतरनाक सिद्ध हो सकता तो यह ख्याल भी कुंडलनी में है कि कुंडलनी ऐसे बहुत इनोसेंट शक्ति है अपनी तरफ से तुम्हें परेशान नहीं करती लेकिन अगर तुम गलत ढंग से छेड़ दो तो खतरे में पड़ सकते हो भारी खतरा हो सकता है इसलिए गलत ढंग से छेड़ना खतरनाक है वो बोध भी ख्याल में ये सारी बातों को ध्यान में रख के वो प्रतीक उससे बेहतर कोई प्रतीक दिखाई नहीं पड़ा सबसे बेहतर और सारी दुनिया में सर्व जो है वो विजडम का प्रतीक भी है प्रज्ञा का प्रतीक भी है जीसस का वचन है सर्व जैसे बुद्धिमान चालाक कबूतर जैसे बोले ऐसे बनो सर बहुत ही बुद्धिमान बहुत सजग बहुत जागरूक बहुत तेज बहुत गतिमान वो सब उसकी उसकी खूबियां हैं कुंडली भी वैसी चीज है बुद्धिमत्ता का चरम शिखर उससे छुआ जाएगा उतनी ही चपल और गतिमान भी है उतनी ही शक्तिशाली भी है तो पुराने दिनों में जब ये प्रतीक खोजा गया कुंडलनी के लिए तब शायद सर्प से बेहतर कोई प्रतीक नहीं था अब भी नहीं लेकिन शायद भविष्य में और प्रतीक हो जाए रॉकेट की तरह कभी भविष्य का कोई ख्याल रॉकेट की तरह कुंडली को पकड़ सकता है वैसी उसकी यात्रा है एक अंतरिक्ष से दूसरे अंतरिक्ष एक ग्रह से दूसरे ग्रह में बीच में शून्य की परत है वो कभी प्रतीक बन सकता है प्रतीक तो युग खोजता है ये प्रतीक तो उस दिन खोजा गया जब आदमी और पशु बड़े निकट थे उस वक्त सारे प्रतीक हमने पशुओं से खोजे क्योंकि हमारे पास वही तो जानकारी थी उन्हीं से हम खोजते थे सर्प उस समय हमारी नजर में सबसे निकटतम प्रतीक था जैसे विद्युत उस दिन हम नहीं कह सकते थे आज जब मैं बात करता हूं तो कुंडलनी के साथ इलेक्ट्रिसिटी की बात कर सकता हूं आज से पांच हजार साल पहले कुंडलनी के साथ विद्युत की बात नहीं की जा सकती थी क्योंकि विद्युत का कोई प्रतीक नहीं था लेकिन सर्प में विद्युत जैसी क्वालिटी भी है हमें अब कठिन मालूम होता है क्योंकि हम में से बहुतों के जीवन में सर्प का कोई अनुभव ही नहीं हमारी बड़ी कठिनाई है क्योंकि हमारे लिए सर्प का कोई अनुभव कुंडली का तो है ही नहीं सर्व का भी बहुत अनुभव नहीं सर्व हमारे लिए एक एक जैसे एक मिथ अभी पिछली दफा लंदन में बच्चों का एक सर्वे किया गया तो लंदन में सात लाख ऐसे बच्चे जिन्होंने गाय नहीं देखी तो जिन बच्चों ने गाय ना देखी उन्होंने सर्व देखा जरा मुश्किल मामला है नहीं जिन बच्चों ने नहीं देखी अब इनका इनका चिंतन इनके सोचना इनके प्रति बहुत भिन्न हो जाएंगे सर्व बाहर हो गया दुनिया से वो हमारी दुनिया का हिस्सा नहीं है बहुत कभी वो हमारा बहुत निकट पड़ोसी था 24 घंटे साथ था सत्संग था और तब आदमी ने उसकी सब चपलताएं देखी है उसकी बुद्धिमानी देखी है उसकी गति देखी है उसकी सरलता भी देखी है उसका खतरा भी देखा वो सब देखा है ऐसी घटनाएं हैं जबकि कोई सर्प एक बच्चे को बचा ले एक निरीह बच्चा पड़ा है और और सर्प उस पर फन मार के बैठ जाए और उसको बचा ले वो इतना भोला भी है और ऐसी भी घटनाएं हैं वो खतरनाक से खतरनाक आदमी को एक दंश मार दे और समाप्त कर दे वो दोनों उसकी संभावनाएं हैं तो जब आदमी सर्व के बहुत निकट रहा होगा तब उसको पहचाना था वो उसी वक्त कुंडलनी की बात भी चली थी वो दोनों तालमेल खा गए वो बहुत पुराना प्रतीक बन गया लेकिन सब प्रतीक अर्थपूर्ण है क्योंकि जब बनाए गए हैं हजारों साल में तो उनके पीछे कोई तालमेल है लेकिन अब टूट जाएगा बहुत दिन सर्प का प्रतीक नहीं चलेगा अब बहुत दिन तक हम कुंडली को सर्पेंट पावर नहीं कह सकेंगे क्योंकि सर्प बेचारा आप कहां है अब उसमें उतनी शक्ति भी कहां है अब वो जिंदगी के रास्ते पर कहीं दिखाई नहीं पाता वो कहीं हमारा पड़ोसी भी नहीं रहा हमारे पास भी नहीं रहता उससे हमारे कोई संबंध नहीं रह गए इसलिए इसलिए सवाल उठता है नहीं तो पहले ये कभी सवाल नहीं उठ सकता था क्योंकि सर्प एक मात्र प्रतीक था कहा गया है कि कुंडली जब जागती है तो वो खून पी जाती है मांस खा जाती है इसका क्या अर्थ है <laughs> हाँ इसका अर्थ होता है इसका अर्थ होता है इसका अर्थ और बिल्कुल वैसी होता है जैसा कहा गया है प्रतीकार्थ नहीं होता असल में कुंडलनी जागे तो शरीर में बड़े रूपांतरण होते हैं बड़े रूपांतरण होते हैं कोई भी ऊर्जा शरीर में जागेगी नई तो शरीर का पुराना पूरा का पूरा कंपोजिशन बदलता है बदलेगा ही जैसे हमारा शरीर कई तरह के व्यवहार कर रहा है जिनका हमें पता नहीं है जो अनजाने और अनकॉन्सियस है जैसे कंजूस आदमी तब कंजूसी तो मन की बात है लेकिन शरीर भी उसका कंजूस हो जाए और शरीर उन तत्वों को डिपॉजिट करने लगेगा जिनकी भविष्य में जरूरत है अकारण इकट्ठे कर लेगा इतने इकट्ठे कर लेगा कि उनके इकट्ठे होने से परेशानी में पड़ जाएगा वो बोझिल हो जाएंगे अब एक आदमी बहुत भयभीत है तो शरीर उन तत्वों को बहुत इकट्ठे करके रखेगा जिनसे भय पैदा किया जा सकता है नहीं तो कभी भय का तत्व ना रहे पास और तुम्हें भयभीत होना है तो शरीर क्या करेगा तुम तो मांग करोगे मुझे भयभीत होना और शरीर के पास भय की ग्रंथियां नहीं है भय का रस नहीं तो क्या करेगा तो वो इकट्ठा करता है भयभीत आदमी का शरीर भय की ग्रंथियां इकट्ठी कर लेता है भय इकट्ठा कर लेता है अब जिस आदमी को भय में पसीना छूटता है उसके शरीर को पसीने की ग्रंथियां बहुत मजबूत हो जाती और बहुत पसीना वो इकट्ठा करके रखता है कभी भी रोज दिन में दस सफे जरूरत पड़ जाती तो हमारा शरीर जो है वो हमारे चित्त के अनुकूल बहुत कुछ इकट्ठा करता रहता है जब हमारा चित्त बदलेगा तो शरीर बदलेगा और जब हमारा चित्त बदलेगा तो और कुंडलिन जागेगी तो पूरा रूपांतरण होगा उस रूपांतरण में बहुत कुछ बदलाहट होगी उसमें तुम्हारा मांस कम हो सकता है तुम्हारा खून कम हो सकता है लेकिन उतने कम हो सकता है जितने की तुम्हारे लिए जरूरत रह जाए शरीर एकदम रूपांतरित होगा शरीर के लिए जितना निपट आवश्यक है वो रह जाएगा से सब जल का खाक हो जाए तभी तुम हल्के हो पाओगे तभी उड़ने योग्य हो पाओगे वो वो होगा फर्क इसलिए वो ठीक है ख्याल उनका इसलिए साधक को एक विशेष प्रकार का भोजन एक विशेष प्रकार की जीवन व्यवस्था वो सब जरूरी है अन्यथा वो बहुत मुश्किल में पहुंच सकता है फिर कुंडली जब जागेगी तुम्हारे भीतर बहुत गर्मी पैदा होगी क्योंकि तो इलेक्ट्रिक फोर्स है वो तो बहुत तापग्रस्त ऊर्जा है जैसा कि मैंने तुमसे कहा कि सर्प एक प्रतीक है कुछ जगह कुंडलनी को अग्नि ही प्रतीक समझा गया है वो भी अच्छा प्रतीक था तो वो आग की तरह ही जलेगी तुम्हारे भीतर और लपटों की तरह ऊपर उठेगी उसमें तुम्हारा बहुत कुछ जलेगा तो अत्यंत रूखापन भीतर पैदा हो सकता है कुंडलनी के जगने से इसलिए व्यक्तित्व स्निग्ध चाहिए और व्यक्तित्व में थोड़े रस स्रोत चाहिए अब जैसे क्रोधी आदमी अगर क्रोधी आदमी की कुंडलनी जग जाए तो वो मुश्किल में पड़ेगा क्योंकि वो वैसे ही रूखा आदमी और एक आग जग जाए उसके भीतर तो कठिनाई हो जाएगी प्रेमी आदमी है वो स्निग्ध उसके भीतर रस की स्निग्धता है कुंडली जगेगी तो कठिनाई नहीं होगी इन सब बातों को ध्यान में रख के वो बात कही गई लेकिन वो बहुत क्रूड ढंग से कही गई है और पुराना ढंग सभी क्रूड था वो बहुत विकसित नहीं है कहने का ढंग